कह दो कि मेरा परवरदिगार जिसके लिए चाहता है रिस्क की फरावानी कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है लेकिन अक्सर लोग इस बात को समझते नहीं हैं